até masyarakat तो सबक चीज तर्क Grazie. अगर देवांश तो हमको सबसे भागवत से कम करके करना सवाल क्या है ये तो हर रंगीय दीवार किया जाता है हर में चटा पसंद बन जाए नीचे से ये क्रोध बना रहे हो ऊपर से मारे उस क्रोध मारे उस क्रोध मारे ये सही नहीं कभी नीचे से किया है अगर रिवायत के अंदर तलाक का लफ्ज है तलाक कोई नहीं आपने देखा कि पूरी रिवायत पढ़ते हुए तलाक कोई नहीं अब तक मैं हजरत अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पड़ोसी था पार्क का रहने वाला पार्क का पार्क का रहने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पड़ोसी था पल्ली मुसलमान था जो ठीक अच्छी बात है तो उम्मीद से तो हमारे हमारी Berapa mana teh? Bus. Ah, yang itu dia. Maka itu